प्रणिमनसा सन्ततेयं नमामि पूर्णानन्दाय तस्मै प्रणिहितमनसा सन्ततेयं नमामि से देखने वाली चीजें अलग अलग होते हैं एक स्त्री दो स्त्री तीन स्त्री एक पुरुष दो पुरुष लेकिन रोशनी एक ही होती है रोशनी के बिना तो स्त्री पुरुष का भेद नहीं देख सकता और आप भी एक ही होती है देखने वाला भी होता है सीखने वाली चीजों में भेद होने से रोशनी में भेद होना जरूरी नहीं है सही बड़ा अलग है गुलाब जामुन अलग है लेकिन उनसे जो आनंद होता है ना वो आनंद में भेद नहीं होता अपने संस्कार के कारण आनंद में भेद मालूम पड़ता है अपनी वासना के कारण आनंद में भेद मालूम पड़ता है निमित्त में जो भेद है ये बड़े का आनंद है ये गुलाब जामुन का आनंद है गुलाब जामुन निमित्त अलग है सभी बड़ा निमित्त अलग है जीव पर स्वाद भी अलग अलग मालूम पड़ता है और मन में इच्छाएं भी अलग अलग होती हैं गुलाब जामुन खाने की और बड़ा खाने की लेकिन जब आत्मा में आनंद का अनुभव होता है तब वो आनंद एक ही होता है निमित्त में भेद होने से उस निमित्त से जन्य पदार्थ के अनुभव में भेद नहीं होता अनुभव रोशनी है अनुभव एक है एक कहानी मैंने पढ़ी थी हमारे हिंदुस्तान के शहनशाह अकबर साहब बड़े रसिक रसिया थे एक दिन बीरबल की लड़की को देखकर उस पर वो मुक्त हो गए अपने दीवान की लड़की मंत्री की लड़की मुक्त हो गए उन्होंने उसके पास खबर दे दी कि तुम हमारे पास आओ तो बीरबल तो घर में थे नहीं कहीं काम से बाहर गए थे लड़की ने जवाब दिया कि जहां अपना स्वयं हमारे घर में पधारिए हम आपका स्वागत सत्कार करना चाहते हैं जब वो आए तो अकबर के सत्कार के लिए बहुत सारी तस्करियों में सामान ढक ढक के रखा हुआ था रूमाल से ढक ढक के रखा हुआ था अब वो एक पत्थरी लाई गई सामने रुमाल हटा दी गई तो क्या था कि उसके भीतर एक नींबू था उस पर नमक काली मिर्च और पीला रंग डाला हुआ था देखा उसने ले लिया दूसरी पत्थरी लाई गई तो उसमें भी नींबू वही नमक मिर्च और उस पर लाल रंग डाला हुआ था तीसरी आयु में उस पर हरा रंग डाला हुआ था अब अकबर ने कहा कि ये क्या बदतमीजी मतलब है, है वही तो नींबू और वही नमक मिर्च सिर्फ रंग बदल बदल के हमारे सामने ला रहे हैं तो लड़की हंसने लगी बोली कि ये जो हजूर देखते हैं लड़कियों को जहां तनाव देखते हैं लड़कियों को इनके भी रंग भी अलग अलग हैं वही नींबू है वही रस है वही नमक है वही मिर्च है ये देखने में इनके रंग ही अलग अलग लगते हैं हो हाँ, हाँ। रंग अलग अलग होने से कोई आनंद में फर्क पड़ता हो तो बात नहीं है आप तो हमारे देश के धर्म के रक्षक हैं अपने धर्म की रक्षा और हमारे धर्म की रक्षा दोनों आपके ऊपर है आपको कोई नया स्वाद मिलने वाला नहीं है आपको कोई नया रस मिलने वाला नहीं है चीज अलग अलग होने से इंद्रिय अलग अलग होने से इच्छा अलग अलग होने से जो आत्मा में अनुभव रूप आनंद है उस आनंद में कोई फर्क नहीं पड़ता तत्वित ब्रह्म रूपेण सर्वान कामान कहा सुनते तत्व ज्ञानों की ये विशेषता है कि वो स्वयं ब्रह्म रूप है काले में भी वही है लाल में भी वही है पीले में भी वही है जवान में भी वही है बेटे में भी वही है इस देश में भी वही है विदेश में भी वही है इस समय में भी वही है दूसरे समय में भी वही है चीजें बदल जाए इंद्रियां बदल जाए इच्छाएं बदल जाए अहंकार बदल जाए लेकिन आनंद जो है वो तो निरंतर है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वही एक का एक इसी एकता को समझाने के लिए तो वेदांत की प्रवृत्ति है क्योंकि जहाँ भेद रहता है वहाँ झगड़ा होता है जहाँ अभेद होता है वहाँ किसी तरह का झगड़ा नहीं होता यहाँ यो विवाह वाह है यहाँ यो विवाह वाह है ऐसे भी ठीक वैसे भी जिए तो ठीक मरे तो ठीक रहे तो ठीक जाए तो ठीक निमित्त को पकड़ने से हमको तो रंगा हुआ पानी पिएंगे अब जहाँ नहीं मिलेगा वहाँ मरोगे और हम तो चांदी के गिलास नहीं पिएंगे जहाँ चांदी का गिलास नहीं रहेगा वहाँ क्या होगा ये निमित्त है वो गिलास को पकड़ते हैं रंगे हुए को पकड़ते हैं जहाँ से वो आनंद प्रकट होता है उसको नहीं देखते हैं तो तत्व ज्ञान होने में तीन फायदा बिल्कुल प्रत्यक्ष है एक तो आपको किसी बात का डर नहीं रहेगा न जुड़ने का न बिछुड़ने का न आने का न जाने का न मरने का न जीने का न नरक का न स्वर्ग का सब तरह के डर मिट जाते हैं ये तत्व ज्ञान का जीता जागता इसी जीवन में फल है मृत्यु का भय मिट जाता है रोग का भय भी मिट दूसरी बात देखो एक मनुष्य अज्ञान के अंधेरे में भटक रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है कि अगले मिनट में क्या होगा आप अपने को चाहे जितना बुद्धिमान मानिए चाहे बाजार का भाव आप बदल दीजिए लेकिन अगले मिनट में क्या होगा ये बात साधारण आदमी को मालूम नहीं है क्षणार्धम नहीं हो जाना में विधाता किम भी आगे क्षण का भी पता नहीं है कि विधाता क्या करेगा भूकंप आ सकता है आसमान से कोई ग्रह गिर सकता है मालूम थोड़ी है किसी को किसी ज्योतिष में किसी गणना में अगले क्षण में क्या होगा हम लोग जवानी पार कर रहे थे एक जोशी आए थे हमारे गांव के पास नेपाली थे सुनते कम थे तो सुनते कम थे वो भी एक विद्या होती है मलिन विद्या होती है तो वो भविष्य बता दे भूत भी बता सकते हमारे साथ एक आदमी गया था उसने जरा सी कोई परीक्षा की बुद्धि से पूछा तो उसने कहा देखो तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा आया था और वो छह महीने का होकर गिर गया ठीक है दो बरस बाद ही होगा चार बरस बाद ही होगा छह बरस बाद ही होगा हमको भी बताया था हमने ये नहीं बताया था कि ये हमारी कुंडली है कि नहीं है पर उसने बता दिया कि तुम्हारी कुंडली है तो हम लोगों ने उससे कहा कि देखो हम दो बरस चार बरस छह बरस की बात नहीं सोची तुम एक कागज पर रख के लिख के लिफाफे में बंद करके रख दो कल क्या होगा हमारे जीवन में कल कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी ये तुम लिख के रख रहे दो बरस चार बरस दस बरस पचास बरस की बताते हो हमें सिर्फ कल की चाहिए और परसों आके हम तुमसे मिलेंगे है और लिफाफा खोल करके तुम्हारे सामने पढ़ बिल्कुल इंतजार कर गया कल भी नहीं लेते देखो ये एक बात है अच्छा सामने वाले आदमी के मन में क्या घूर रहा है ना कोई कोई अपनी मानसिक शक्ति से इसका पता लगा देते हैं वो हमको मालूम है बड़ा कैसे लगाया जाता है वो भी मालूम है और कब कब हमारे मन की बात दूसरों ने जान ली है वो भी हमको मालूम है लेकिन हम लोग जो कल्पना करते हैं ना बिल्कुल अंधेरे में ये हमारा दोस्त है ये हमारा दुश्मन है हम कभी कभी दोस्त को दुश्मन समझ लेते हैं दुश्मन को दोस्त समझ लेते हैं अच्छा जो जो आदमी हमसे भी दोस्ती रखता है और हमारे दुश्मन से भी दोस्ती रखता है पर को विश्वास करने में मन डरता है वो पता नहीं कब ये उससे मिल जाएगा कब हमारे साथ रहेगा मन ऐसा संशय रहता करता तो ये तत्व ज्ञानी की एक खास बात है कि उसको अलग अलग तत्व ज्ञान नहीं होता एक विज्ञान से सर्व विज्ञान होता है एक परम परमात्मा को वो जानता है और परमात्मा के बारे में जो अज्ञान है अंधकार है वो बिल्कुल मिट जाता है अपूर्व वैदुष्य इसको बोलते हैं वो वो सब घड़ों को भले नहीं पहचाने परंतु सारी माटी को पहचानता है वो सब देवरों का नाम भले न जाने लेकिन वो सोना को पहचानता है वो नदियों का नाम भले न जाने परंतु उस पानी को पहचानता है किसकी सांस में लहसुन की गंध है किसकी सांस में सिगरेट की गंध है हाँ, ये भले वो न पहचान सके लेकिन गंध को पहचानता है एक के विज्ञान से सर्व विज्ञान एक तत्वज्ञानी की विशेषता है और तीसरी बात यह है कि दुनिया में चाहे चीटी भोग रही है और चाहे हाथी भोग रहा है चाहे इंद्र भोग रहा है चाहे ब्रह्मा भोग रहा है जिसको जिस किसी भोग से जा कहीं भी जो आनंद मिल रहा है हम इंद्र को भले न पहचाने ब्रह्मा को भले न पहचाने विष्णु को भले न पहचाने मिठाइयों के नाम भले न जाने लेकिन हम उस आनंद को पहचानते हैं जो भरपूर है सबका आनंद हमारा आनंद है ब्रह्मा का आनंद विष्णु का आनंद शिव का आनंद वो पुरुष अलग अलग है वो विषय अलग अलग है वो वृत्ति अलग अलग है परंतु आनंद तो आत्मानंद ही है आनंद तो ब्रह्मानंद ही है इतोतिशयो ब्रह्म प्राप्ति रूपम फलम श्रुता ये ब्रह्म ज्ञानी का अतिशय है ये ब्रह्म ज्ञानी की विशेषता है वो बिना स्त्री पुरुष के स्त्री पुरुष का आनंद लेता है वो बिना जीव और बड़ा के बिना जीव और बिना रसगुल्ले के जीव और रसगुल्ला का आनंद लेता है वो बिना स्वर्ग ब्रह्मलोक के स्वर्ग ब्रह्मलोक का आनंद लेता है निमित्त की कोई कीमत ही नहीं रहती क्योंकि आनंद का उपादान अपना आत्मा है और आनंद का उपादान आनंद का मसाला जिस मसाले से आनंद पैदा होता है वो मसाला कोई अलग अलग बाहर नहीं है वो मसाला तो अपने अंदर ही है हम एक महात्मा के यहाँ दर्शन करने जाते थे तेरह चौदह मील जाते थे और सवेरे चार बजे उठ के चल पड़ते सात आठ बजे तक पहुंच जाते वहाँ और फिर वहाँ स्नान करते क्योंकि हम दूसरे के घर की रोटी उन्होंने नहीं खाते थे बना रहे खाए तो महात्मा क्या करते थे और चिवड़ा हो चिवड़ा थोड़ा चिवड़ा दही में डाल दिया उसमें नमक डाल दिया और थोड़ा चिवड़ा दही में डाल दिया उसमें शक्कर डाल दिया और थोड़ा चिवड़ा पानी में डाल दिया और उसमें नमक नींबू डाल दिया तो थोड़ा चूड़ा दूध में डाल दिया चूड़ा यही जिसका यहाँ वो कौआ बनाते ना कौआ चूड़ा तो एक ही महाराज वही नमकीन वही खट्टा वही मीठा तरह तरह से खाते दिन भर के लिए भूख मिट जाती फिर शाम को चलते घर पहुंच जाते बिना रोटी बनाए बिना भात पकाए बिना खिचड़ी पकाए हाँ, वो मजा आता हो खाने का जैसे घर में तो कभी आता ही ना हो मन होता बार बार चलो उन्हीं के पास चल के बढ़िया खा के आओ एक ही तो चूड़ा तो ये सृष्टि में जो आनंद है वो निरंतर मरने का भी एक आनंद होता है बिछुड़ने का भी एक आनंद होता है खाने का आनंद होता है भूखे रहने का भी आनंद होता है आज भगवान आधी एकादशी करवा दे तो परसों बीती एकादशी का मजा आज क्यों नहीं ले सकते है? तो ये जो आनंद में निरंतर ये है निरंतर निरंतर माने लगातार ये रोक तो बिना अड़चन बिना अड़ा बिना फर्क का जो आनंद है चलने में वही है सोने में वही है बोलने में वही है मौन में वही है बैठने में वही है सोने में वही है सोवत बैठक पड़े उठाने कहे कभी वही ठिकाने ये आनंद का निर्जन जी है तो ब्रह्मवेद आप लोगों की पराग जो ब्रह्मवेदता होता है उसको परम सुख की प्राप्ति होती है एक ऐसी चीज है जिसमें करना नहीं है ये लोग बताते हैं ना अरे बहुत व्याख्यान सुन लिया अब करने का टाइम आ गया तो वो कोई समाज सेवा की बात होगी राजनीति की बात होगी है ना तो और बस बस अब भूलने का समय नहीं है अब करने का समय है ये बात भी भूल के ही बताते हैं बच्चे है ना बिना भूल ही बताओ भाई है ना बहुत बोल लिया बहुत बोल लिया बहुत बोल लिया अब करने का टाइम आ गया तो ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है है ना जिसमें करना कुछ नहीं है सिर्फ जानना है तो बोले आओ ध्यान कर ले अब जान लिया ध्यान करें और इसी के सामने जिस चीज को देख रहे हैं उसका ध्यान क्या करेंगे जो साक्षात अपरोक्ष है अपना स्वरूप है अनदेखी चीज का ध्यान होता है वो जो चीज देखी जा रही है उसका क्या ध्यान होगा और तुम तो सामने बैठे हो आप बंद करके तुम्हारा ध्यान करें तो बेवकूफी की बात होगी कि नहीं साक्षात करो ब्रह्म तत्व ये तो योगी के बच्चे हैं वो ध्यान करने के लिए प्रार्थना और हाथ जोड़ के प्रार्थना करें किसकी अपनी अपने को हाथ जोड़ते हैं और अपनी प्रार्थना करते हैं छोड़ चाहे जाको जाको सुकृति भजत राम अनुष्ठान तो है मेरी आत्मा ऐसा ज्ञान ऐसा ज्ञान जिसमें न कुछ करना बाकी रहता न कुछ सोचना बाकी रहता न कुछ ध्यान बाकी रहता न उपासना बाकी रहती न समाधि बाकी रहती ऐसा ज्ञान ज्ञान की एक लहर का नाम समाधि है ज्ञान की एक लहर का नाम योग है ज्ञान की एक लहर का नाम उपासना है ज्ञान की एक लहर का नाम ध्यान है और ज्ञान की एक लहर का नाम कर्म है अब ये है कि जो का होगा वो जहाँ जाएगा वही उसको करना पड़ेगा मंदिर जहाँ जाएगा उसको वहाँ सफाई करनी पड़ेगी तो ये निरंतर आनंद है अब ये जो ब्रह्म वेदता है उसमें ब्रह्म क्या है तो बोला कि अनंत है देखो जब कल्पित जगत अनंत है तो उसका अधिष्ठान तो अनंत होगा ही होगा ये नोट कर लो बोला जहाँ कल्पना ही अनंत होती है बताओ पूरा कांत बताओ पूरा का सूरज की अनंतता कल्पित अनंतता है तो प्रत्यक्ष तो होगी नहीं पश्चिम की अनंतता कल्पित अनंतता है ऊपर की अनंतता कल्पित अनंतता है नीचे की अनंतता कल्पित अनंतता आंख बंद करके मन से सोचने लगे ओ ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर कहाँ ऊपर और तो कहीं भाई और जोर नहीं मिलता अच्छा आंख बंद करके सोचो कब ये कब कहाँ शुरू हुआ कब से भी पहले का कब था कब से भी पहले तक था जब से पहले जब तक कब के बाद में भी कब ये काल क्या है कल्पित अनंत है देश क्या है कल्पित अनंत है वस्तुएं क्या है कल्पित अनंत है तो इस कल्पना का जो आश्रय होगा इस कल्पित का जो आश्रय होगा वो सच्चा अनंत होगा और ये कल्पनाएं जो हैं ये झूठी अनंत हैं झूठी अनंत हैं अगर ऐसा सोचोगे कि ये दुनिया उस दिन पैदा हो तो उस दिन भी गलत होगा कल्पित होगा वो आज से अरब अरब बरस पहले दस बज के पांच मिनट पर ये दुनिया पैदा हुई और उसके भी पहले अब से अरब बरस बाद ये दुनिया बैठ जाएगी तो उसके भी बाद ये काल ही कल्पित अनंत है देश ही कल्पित अनंत है तो इसका जो आश्रय होगा माने जिसमें ये कल्पना होगी और जिसको ये कल्पना मालूम पड़ेगी जिसमें मालूम पड़ती है जो कल्पना करता है वो भी अनंत होगा और जिस अधिष्ठान में कल्पना की जाती है वो भी अनंत होगा और दो अनंत नहीं हो सकता दो अनंत नहीं हो सकता इसलिए जगत का अधिष्ठान रूप ब्रह्म और जगत का प्रकाशक रूप आत्मा ये दोनों एक अनंत हैं ये वेदांत की बात है तो बोले भाई अब इसकी व्याख्या करके सुनाओ व्याख्या माने जागरात होता है जागर जो चीज जाहिर न हो उसको जागृत करने का नाम व्याख्या है बी माने विशेष आ माने पूर्ण रूप से ख्याति क्या व्याख्या बी आ क्या ख्याति जाहिर होना विशेष रूप से पूरी तरह से किसी बात को जाहिर करना उसका नाम होता है व्याख्या व्याख्या एक आदमी बैठा है चुपचाप अब उसका बखान करो व्याख्यान करता है उसका बखान करो ये बड़े भारी महात्मा हैं ये बड़े भारी ज्ञानी हैं ये बड़े कोई दिखता नहीं है कुछ न कोई आदमी ज्ञानी दिखता है न कोई आदमी सुखी दुखी दिखता है ये तो ऊपर का जो है ना एक गृहस्थ के घर एक दिन गए तो दरवाजे के बाहर में मालूम पड़ गया कि पति पत्नी में घनघोर लड़ाई हो रही है, वो वो उनके ऊपर टूटी पड़ रही है वो उनके ऊपर टूटे पड़ रहे हैं घंटी बजा दी घंटी बजा दी देखा उन्होंने भीतर से कि कौन है अरे महाराज पहले किवाड़ी नहीं खोले हो पहले दोनों ने बाथरूम में जाके अपना मोह धोया और हंसते हुए दोनों हंसते हुए दोनों आए और किवाड़ खोल दी तो हंसने से मालूम पड़ गया कि वो है अपने दुख को हंसी के पर्दे में उन्होंने ढक दिया एक मेहमान आए उन्होंने घंटी बजाई दोनों पति पत्नी खूब आनंद में मौज में बैठे हुए थे खूब सुखी थे अरे ये कहाँ से आ गया है ना ये तो घर में बोझ आ गया है ना अब दोनों ने आपस में लड़ाई शुरू कर दी वो उधर मुंह फिरा कर बैठ गए वो उधर मुंह फिरा करके बैठ गए मेहमान आए हाँ, पांच मिनट बैठे उनसे कोई बात ही न करे तो नमस्कार अच्छा मैं फिर आऊंगा करके चले जब चले गए तो दोनों हंसने लग गए ये संसार का हंसना रोना क्या है वो ये तो बिल्कुल बनावटी हाँ, किसी के हंसने से उसके सुख का पता नहीं चलता किसी के रोने से उसके दुख का पता नहीं चलता ये दुनिया ये दुनिया भराट बड़ी भारी माया है माया तो आओ असली अनंत का पता चलावे कि वो क्या है दबानंद्य प्रसिद्ध्यर्थाम जगत कारण दो अब वर्णन करते हैं कि वो जगत का कारण है हम जानते हैं कि वो कारण वारण नहीं है कारण कार्य का भाव जो है ना देखो कहा एक बच्चे के सामने आप ला के खड़ा रखते हो अब वो खड़े के बारे में सोचेगा तो क्या वो सोच सकेगा कि पहले मिट्टी का गला था है? और हाँ, फिर खोदा गया और कूदा गया है? और गीला बनाया गया और चाक पर चढ़ाया गया और कैसे चढ़ा गया कैसे काफी पड़ी कैसे कैसे हवा में गया क्या ये बच्चा घरे को देख करके जान सकता है लेकिन जब वो कभी देख लेगा ना वैसा बनता हुआ देख लेगा तब उसके मन में धारणा हो जाएगी हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं कि हमको 18 बरस 17 बरस की उम्र तक यही मालूम था कि बच्चे आसमान से आते हैं माँ के पेट से निकलते हैं ये हमको मालूम नहीं था सत्रह अठारह बरस तक हम यही समझते थे कि आसमान में से आते हैं ठीक है ना तो जो परमात्मा से इस दुनिया को पैदा होते देखे वो तो जान सकता है कि परमा ये जगत पहले किस रूप में था कारण क्या था साथ क्या हुआ ये जान सकता है जिसने दुनिया को बनते नहीं देखा तो दुनिया किससे बनी पहले क्या था दुनिया कैसे बनी दुनिया क्यों बनी सीताराम सिवाय कल्पना के इसका और कोई कल्पना के सिवाय इसको जानने का कोई उपाय नहीं है हमारे घर में एक देवी की पूजा होती थी तो हम लोग यही प्रार्थना करते थे कि हे देवी जी तुम्ही ने ही ये दुनिया बनाई है और तुम ही इसको पाल रही हो और तुम ही इसका संहार करोगे पीपल के पेड़ में एक भूत को हाथ जोड़ते थे जब तुम ही दुनिया के मालिक थे देखते हैं सालग्राम की बटिया और कहते हैं आप ही जगत के सृष्टा हैं है? आप ही जगत के कर्ता हैं आप ही जगत के भरता हैं आप ही जगत के हरता हैं देखते हैं पत्थर का एक पत्थर की एक गोली रखी हुई है तो उनको जगत कारण कैसे मानते हैं अपने चित्त में एक कल्पना बैठा दी जाती है गणेश जी ने सृष्टि बनाई ये भी शास्त्र में लिखा तुम्हें वो प्रत्यक्षम करता सी तुम्हें वो प्रत्यक्षम सी और गणपति अथर्व बहुपनिषद को पढ़ो है तुम ही प्रत्यक्ष करता हो तुम ही प्रत्यक्ष करता हो देवी का पढ़ो देवी ने बनाया शिव का पढ़ो शिव पुराण करो शिव ने बनाया ब्रह्मा ने बनाया विष्णु ने बनाया निराकार ईश्वर ने बनाया प्रकृति ने बनाया परमाणु से बना और शून्य में से बन गया अब देखो सब अंधेरे में जैसे ढेरा फेंकते हैं हमारी माँ बीमार थी हो तो हम बनारस में अपनी माँ के लिए दवा लेने जाया करते थे डॉक्टर अटल बिहारी थे थे तो महाराज दवा दे तीन दिन चार दिन दवा पिलाने के बाद बदल दे दो महीना हो गया तीन चार दिन दवा पिलाने के बाद फिर कहने ये ठीक नहीं बैठी और दूसरी दे वो बनारस की हिंदू हिंदू विश्वविद्यालय की सीनेट का मेंबर था वो डॉक्टर अटल बिहारी सेठ स्वतल बिहारी सेठ को पत्री था सेठ तो मैंने एक दिन उससे पूछा कि डॉक्टर तुम हर तीसरे दिन दवा बदल देते हो चौथे दिन बदल देते हो तो अच्छा तो होता ही नहीं है तो बोला देखो पंडित जी जैसे अंधेरे घर में कोई गुजिया इधर से उधर दौड़ रही हो और बाहर से <laughs> उस पर झेला फेंक के निशाना लगाते हैं वो तो अंधेरे घर में है कभी निशाना लग जाता है कभी नहीं लगता है अभी हमारा निशाना लगा नहीं कि वो रोग जो है दो तो महीने से दवा कर रहा हो मेरा निशाना अभी लगा ही नहीं तो महाराज एक निशाना लग गया उसमें फेंकते फेंकते फेंकते एक निशाना उसका लगा और जो रोग था वो बिल्कुल निकल गया तो अंधेरे घर में ढेला फेंक के जैसे निशाना लगाया जाता है ना वैसे जगत का जो कारण है अज्ञात कारण उस अज्ञात कारण पर अपनी बुद्धि का ढेला फेंक फेंक के विचार का ढेला फेंक फेंक के लोग उसका पता लगाते हैं तो उसका कारण क्या है तो वो कारण अज्ञानांधकार में है वो अज्ञान है कारण अज्ञान क्योंकि हम सत्य को नहीं जानते हैं हम ज्ञान को नहीं पहचानते हैं हम आनंद को नहीं पहचानते हैं अपने ब्रह्म अपने आत्मा को नहीं पहचानते हैं ब्रह्म को नहीं पहचानते हैं इस न पहचानने में से अज्ञान में से सृष्टि पैदा होती है अज्ञान में रहती है और अज्ञान में मिलती है देखो ये कल्पनाओं का अंत है आपकी सारी छोटी बड़ी कल्पनाओं की का अंत कहाँ है हम नहीं जानते हम नहीं पहचानते हम नहीं देख पाते बस बस बस किसी के आपके न पहचानने में से बनाने वाला भी निकल आया और बनने वाला भी निकल आया एक फुलपुड़ा नाम की जगह है फुलपुड़ा उत्तर प्रदेश में लखनिया स्टेशन के पास है हम लोग जाते रहे उल्लासा उल्लासांस्पति हो तो एक साधु ने बताया कि ईश्वर ने पहले धूल बनाई धूल अब वो उड़ी जाए तो जीरा करने के लिए पानी बनाया फिर सुखाने के लिए आग बनाया फिर उसने सांस भरने के लिए हवा बनाई और फिर उसको चलने फिरने के लिए आसमान बनाया अब वो देख के वो आए थे बोल रहे थे हमारे एक बाबा ने बताया कि पहले चुपचाप बैठा था आसमान ही आसमान था फिर दौड़ा तो हवा आ गई दौड़ने से हवा पैदा फिर गर्मी बढ़ी तो गर्मी से आग पैदा हो गई फिर पसीना हुआ तो पसीने से पानी पैदा हो गया और पसीना जम गया हो ईश्वर के शरीर पर तो माटी हो गई जब अब बताओ वो वो ठीक है दिए थे तो ये सृष्टि कैसे हुई कब हुई कहाँ हुई पहले आपने सुना है ना अकबर ने बीरबल से पूछा कि सृष्टि का बीचों बीच कहाँ है, है? सृष्टि का बीचों बीच कहाँ है तो बीरबल एक हथौड़ा और कील लेके आए हैं और वहीं दरबार में उसको गाड़ना शुरू कर दिया बोले क्या कर रहे हो तो बोले महाराज इस सृष्टि का बीचों बीच यही है <laughs> तो अकबर ने कहा कि ये कैसे मालूम पड़ेगा बोले आप नाम के <laughs> देख लीजिए आप नाम के देख लीजिए तो असल में सारी सृष्टि का जो केंद्र बिंदु है अच्छा आप बताओ पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण इनका बीचों बीच कहाँ है हम बता देते हो तो आपको बता दें बिल्कुल आपका मैं इनका बीचों बीच है आपके यहाँ आपसे पूरब पूरब शुरू होता है आपसे पश्चिम पश्चिम शुरू होता है आपसे उत्तर उत्तर शुरू होता है और आपसे दक्षिण दक्षिण शुरू होता है जहाँ आप बैठे हैं जो आप बैठे हैं पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण का आदि कौन है का आप और इनका अंत कौन है तो आप तो न समझ में आ रहे तो फिर पूछ लेना आप ये पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण अच्छा ये जो काल है जो भूत बीत गया और जो आगे आने वाला है दोनों का बीचों बीच कौन है आ, हाँ, मैं ये नहीं कि पहले कुछ ज्यादा रहा हो पीछे कुछ कम रहेगा तो बात नहीं कि पीछे ज्यादा रहेगा पहले कम रहा हो ये बात नहीं है जहाँ आप हैं वहीं से तो काल की नाप शुरू होती है हाँ, काल की पूरी आप हैं देश की पूरी आप हैं ये जो दुनिया जो मालूम पड़ती है इसकी दूरी आप है और ये मारने वाले पूजने वाले आप गुरु को गुरु बनाने वाले मानने वाले पूजने वाले आप हैं ये प्रिय है ये प्रिय है दोनों की आदि अंत कहाँ है शत्रु और दोनों कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ खत्म होते हैं बताओ इंद्रो जगत कारण तो अब अनंतता की सिद्धि के लिए कि ब्रह्म अनंत है इसलिए नहीं कि उसकी अनंतता नाप ली गई है नाप से देख ली गई है इसलिए नहीं अनंत को बुद्धि का विषय बना करके उसको अनंत नहीं कहते ये जो कल्पित अनंतता जगत में मालूम पड़ती है इसके आधार रूप से और इसके प्रकाश रूप से ब्रह्म की अनंतता सिद्ध करने के लिए ब्रह्म को कारण कहते हैं कारण और ये कारण नहीं है वारण है कारण क्या होता है रोक लगाना है अरे किसी ने कहा कि उसने बनाया कृषि में पहले पीतल पैदा हुआ है आपने सुना होगा कि कृषि में पहले गेहूं पैदा किया गया बोला तो खुदा ने मना कर दिया कि देखो इसको खाना बात तो महाराज शैतान ने जो गेहूं लोगों को खिला दिया बन गया शंकर पहले गेहूँ पैदा हुआ कि पहले चीज पैदा हुई कि पहले खेत पैदा हुआ कि पहले किसान पैदा हुआ है सीताराम बात यह है कि ये सब बात है छोटे का जिसको नोन लकड़ी के बारे में सोचना है वो इसको कैसे सोचेगा लेकिन लोन सोचेगा लकड़ी सोचेगा पैसा सोचेगा मकान सोचेगा औरत सोचेगा बेटा सोचेगा बेटी सोचेगा शरीर सोचेगा कपड़ा सोचेगा उसकी दवा सोचेगा तो जो इधर के सोच विचार से विरक्त है और निवृत्त है मुक्त है छुट्टी में है वो ना इसको खाली रूप में सोच सकता है चलो क्या लेना देना है बड़े लेना देना तो ऐसा है कि सारे झंझट ही मिट जाए सारे झगड़े ही मिट जाए आओ जी जगत कारण तो वही परमात्मा जगत का कारण है जब सत्यम ब्रह्म कोशाख्यो गुहायाम व्योम नाम के अज्ञाने कारणे दूढ़ तस्माद आकाश उच्यते ये आकाश कहां से पैदा हो गया तो वहां से पैदा हो गया अब वहां का कोई मतलब समझना चाहे कि कहा तो कभी समझ में नहीं आया आवेगा कब पैदा हो गया आकाश कभी समझ में नहीं आवेगा तो वो कब कब था किससे पैदा तो देखो एक बात देखने में आप हम पलंग पर सोते हैं आंख बंद कर लेते हैं चार निद्रा के अंधकार में डूब जाते हैं जहां कुछ नहीं मालूम पड़ता उसी नींद में जब सपना आता है तो बड़ी भारी लंबाई चौड़ाई दिखने लगती और ग्रह देखते हैं नक्षत्र देखते हैं तारे देखते हैं सूर्य देखते हैं चंद्रमा देखते हैं चिड़िया उड़ती हुई देखते हैं जहाँ चिड़िया उड़ती है ना यह पक्षी यहाँ चिड़िया उड़ रही है चिड़िया के उड़ने का आधार जो है जहाँ चिड़िया उड़ रही है उस आधार को आकाश कहते हैं उस अवकाश को आकाश कहते हैं जो स्पर्श से स्पर्श भाव को प्राप्त होता है उसका नाम आकाश है तो स्थिति से गति भाव को प्राप्त होता है उसका नाम आकाश है अच्छा जी अब आप बताओ आप आपकी बंद एक कमरे में पलंग पर आपका शरीर सोया हुआ है और आप गाढ़ी नींद में सो रहे थे और देखते हो क्या है देखते हो क्या बड़ी लंबी चौड़ी दुनिया उसमें ग्रह नक्षत्र तारे दिख रहे हैं ये कहाँ से दिखे बोले मन में दिखे और आपने देखे बोले ये मन में ये सब कहाँ से पैदा हुआ बोले जागृत अवस्था में जैसी दुनिया देखी थी उसका संस्कार मन में बैठा हुआ था है? और वो जाहिर हो गया दुनिया दिखने लगी तो इसका मतलब है कि पूर्व पूर्व संस्कार से नवीन नवीन सृष्टि का दर्शन होता है वो कहाँ स्थिति रहती है बोले अज्ञान में स्थिति रहती है और अज्ञान थोड़ा पीला पड़ा तो निकल कर दिखने लगी फिर नींद आ गई तब तो आकाश का उदय कहाँ और आकाश का विलय कहाँ तो श्रुति ने बताया वेद ने बताया तस्माद वा ये तस्माद आत्मन आकाश संभूता ये तैतरीय उपनिषद तैतरीय उपनिषद तो हमारे पंडितों को खूब याद रहता है दादा बात करते हैं मतलब समझते हैं कि नहीं वो तो समझते क्योंकि देखो ब्याह में लड़की पक्ष से एक मंत्र बोलता है, है? और लड़का पक्ष से एक मंत्र बोलता है और दोनों कौन मंत्र बोलते हैं कि तो लड़की के बोलने वाला मंत्र पंडित बोलता है लड़का के बोलने वाला मंत्र पंडित बोलता है अमो हमस्मी सहस्वम मैं नारायण हूँ तुम लक्ष्मी हो है ना हाँ, ऐसे बोलते हैं बोलते हैं हाँ। मैं ऋचा हूँ कविता हूँ लड़की बोलती है मैं कविता हूँ ऋग्वेद की ऋचा हूँ सामवेद की हाँ। और तुम सामवेद के संगीत हो सामा हमस्मी रेखम देवरहम पृथ्वी मैं आकाश हूँ तुम पृथ्वी हो तुम मेरी गोद में हो अभी लड़का लड़की के बोलने का मंत्र हो और बोलते हैं पंडित तो उनका आपस में ब्याह हो जाता है और ब्याह होते होते लड़ाई भी हो जाती है तो दोनों पक्ष के पंडित आपस में लड़ मालूम तो उनको कुछ है नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं है ना अरे कोई कोई पंडित होते हैं जिनको मालूम रहता है आगे तो समय मंत्र बोलते हैं तो अब पंडित लोग तो बोलते हैं दूल्हा तो बोलते ही मम प्रदे ते हृदय ददामी मम चित्तमनुचित्तम ते अस्तु मम वाचम एक मनाशुषस्व प्रजापति हाँ, मैं अपने व्रत में तुम्हारा हृदय स्थापित करता हूँ मेरा मन और तुम्हारा मन एक होकर रहे हम दोनों एक मन हो और हम दोनों एक स्वर में बोले हम दोनों कदम से कदम मिलाकर चले हैं मया से संतु जरदष्टया सावे ही विवाह है सहरे तो दधाम सदा भाई पुत्रान प्रजनयाव है मया से संतु जरदष्टया हम दोनों एक साथ बुढ़िया बने बुढ़े बने हम दोनों बुढ़े बुढ़िया हो तो एक साथ ही हों ये नहीं कि एक जवान गया और एक बुढ़िया हो गया है ना तो जवान को तो फिर दूसरा चाहिएगा <laughs> नहीं हम लोग एक साथ जवान रहे और हमारा बुढ़ापा भी एक साथ आ गए और बुढ़े होकर के हम लोग मरे मेरा संतु जरदस्तया जब अभी तो पंडित पढ़ लेते हैं तो ये तैतरीय उपनिषद महाराज पंडित लोगों के मुंह पर याद रहता है बात करते हैं और हमारे पास एक ब्राह्मण आते हैं आंध्र के हैं हाथ में लोटे का पानी लिए हुए आते हैं सत्ताईसरी सब उनको याद कम सकते नारायण ये तो कहते हैं तस्माद वा ये तस्मादात्मन चाहे उस पर ब्रह्म परमात्मा से कहो और चाहे इस आत्मा से कहो चाहे मन में बैठे हुए परमात्मा से कहो मन के आधार रूप आत्मा से मन के दृष्टा से प्रकाशक से और चाहे संपूर्ण विश्व सृष्टि के आधार ब्रह्म से कहो है तो दोनों एक ही तो इससे कहो या उससे तस्माद एक तस्माद आत्मन आकाश संभूत अपने आप से आकाश पैदा होता है अपने अपने आप में नींद दिखती है अपने हाथ में सपना दिखता है अपने आप में जागृत दिखता है अपने आप से ये आकाश पैदा होता है इस आकाश का सृष्टा इस आकाश का दृष्टा मैं अपना तस्माद वाह तस्माद आत्मन आकाश ब्रह्मूत आकाशात वायु सांस कहाँ करते है यदि भीतर खोल न होती हमारे गांव में सौंपा बोल रहे हो जैसे बांस में बांस में छेद होता है ना उसी में तो हम लोग फूकते हैं तो बांसुरी की आवाज निकलती है ना तो ये भीतर अगर वैसी कोई पोल न होती तो नाक में से हवा मुंह में से हवा भीतर कैसे जाती और भीतर से कैसे निकलती तो पहले पोल है फिर उसमें हवा चलती है आत्मा आकाश संभूता आकाशाद वायु वायु वायोरग्नि जब कोई चीज मिलती है तो गर्म हो जाती है वायु से आग पैदा हुई अग्नेरापहा गर्मी से जल पैदा हुआ अभिव्या पृथ्वी पानी से धरती पैदा हुई पृथ्व्या अन्नाम पृथ्वी से अन्न पैदा हुआ अन्न अथवा भूता नहीं जायते अन्नादवा इमान भूतानी जातानी अन्न से सब प्राणियों के शरीर पैदा अन्न से पृथ्वी से अन्न हुआ और अन्न से ये शरीर बना ये जो शरीर है चाहे पशु का हो चाहे पक्षी का हो ये नहीं समझना कि मच्छर का शरीर माटी का होता है और तुम्हारा शरीर सोने से बनता है सो तो बात नहीं वही माटी वही पानी वही आग वही हवा वही आसमान सबके शरीर ये अभिमान ही बड़ा छोटा बनाता है बड़ा भारी अभिमान है क्या लेके आए हैं हमारा महल देखो इतना बड़ा एक राज का महल है राज महल सुनते हैं अब से कोई चालीस पचास बरस पहले बनाता था और उस समय नौ करोड़ रुपया उसको बनाने में था मैं जाता हूँ प्राप्त में वहाँ की रानी से महारानी से दादी दादी से सबसे अपनी पहचान तो मैं जाता हूँ जब ले एक बार मैंने कहा मैं ये महल देखूंगा अब देखने के लिए गया महाराज तो कभी तक के बीच जगह जगह पड़े हुए झाड़ू नहीं लगती है उसमें स्नान करने का अलग बना हुआ है बड़े बड़े कमरे बड़ा ऊंचा बड़ा बड़ी बात तो उस समय तो उन लोगों ने ऐसा किया था कि महल के बाहर एक छोटा सा मकान और बना लिया था उसमें रहने लग गए थे क्योंकि उस महल की सेवा शुश्रूषा नहीं होती और इतना बड़ा महल अब तो उन लोगों ने उस घेरे को ही छोड़ दिया दूसरा शहर में दूसरा शहर में मकान लेकर रहते हैं तो छूट गया गाय का अभिमान है हमारा नौ करोड़ का महल एक राज्य में हम जाते हैं आठ मील घेरे में उनका महल है आठ मील के घेरे में वो जो चार दीवारी है हाँ, उसकी कड़ी थी आठ मील थी हाँ। अब उसमें नहीं गए उसमें एक होटल चल गया एक क्या हो गया कुछ खेती हो गई हाँ, फार्म खोल दिया उस महल के भीतर अब फार्म खोल दिया अब होटल खोल दिया बोले तो उनके घर में जैसे जौ गेहूं रखे जाते हैं ऐसे हीरे मोती रखे जाते हैं ढेर लगते थे क्या है सब सिवाय अभिमान के एक माटी का ठेला माटी की टांग माटी की कमर माटी की छाती माटी का कंधा माटी का डंडा माटी की पालकी उस पर बैठा एक माटी का धोधा और बोला मेरा नाम राजा मेरा नाम महाराजा असल में हुआ क्या माटी का बना ढेला माटी में मिल गया हो गया यही ना इस संसार में सिवाय अभिमान के इस संसार में सिवाय अभिमान के और है क्या क्या लेके आए हो क्या लेके जाओगे अभिमान ही संसार बनाता है ये सारा संसार अभिमान का खेल है इसमें और कुछ हाँ, ब्रह्म ज्ञान से यही अभिमान टूट जाता है इसमें मैं महंत हूँ मैं आधार हूँ मैं महा महा महा महा मंडलेश्वर हूँ कुछ तो चलने वाला नहीं है सबकी एक ही एक ही प्रभाव और एक ही अंत एक ही माटी में से निकले और एक ही माटी में मिलेंगे